इस बात को गीता में देखने के दुर्योधन अपने गुरु का आदर करते आचार्य राजा दूसरे अब्दुल के पक्ष पर बड़े बड़े सूत्रों के कारण दुर्योधन के सहायक हो परंतु जीत तो उसकी हुई है जिसकी सरकार भगवान का संशोधन हो सरकार और सरकार की दृष्टि ही अपनी बनी रहना तो भगवान अपने पक्ष दूसरे अर्जुन के मन में भी रागत दृष्टि इसलिए समस्त द्वारा मध्य में स्थापित मध्य तो मध्यस्थ होना चाहता है मन दोनों पक्ष को सम दृष्टि से देखना अर्जुन में भी लगे दृष्टि एक बात यह है कि इतनी विषम परिस्थिति में दोनों ओर से स्वस्थ चलते को ज्ञान और अर्जुन का विवेक नष्ट नहीं हो वो कहता है विवेक से युद्ध हो करो यदि युद्ध करना ठीक है तब तो करेंगे वहां विवेक इसका खोया नहीं एक बात यह है कि अर्जुन देहातिरिक्त आत्मा को अच्छी तरह जानता है स्वतंत्र तीसरो के शाम को नरके निर्गम वासो होती और देह जैसे आत्मा करके कहीं जाती है पितर में रहती है दुष्कर्म किए हुए नरक ये बात अर्जुन को मुलाकात का भी विचार करता हूँ यदि इन सब हमारे रिश्तेदार नातेदार को नहीं जाएंगे तो हम राज्य लेकर क्या करेंगे फल पर भी दृष्टि नेपाल महत्व इच्छा है जनकों को अभी वेदों के राज्य से वेदों को धरती की पूजा बात है तो गोपी के राज्य के लिए भी मैं इसको पहले मानना चाहता है ये हमको बात महासागर भी स्वयं बातें को दिया है लेकिन अपने विवेक के विरुद्ध तो तो इसी से विषाद भी दूर हो जाता है रोवे तो भगवान के सामने रोवे तो रोना भी जोड़ अच्छा तो विवेक है और फलटों के राज्य के लिए भी छोड़ने को तैयार है अच्छा तो विवेक और वैराग्य दोनों तो हो ही है और शिक्षा बाद के खाने को तैयार है तो सर्ववादी जो और श्रेय प्राप्ति करता है श्रेयो को ये लोग श्रेय की प्राप्ति चाहता है इसलिए वो और भूक्षा पाल के फल चाहता है इसलिए प्रयास और धनुष बाढ़ रूप जो क्षत्रिय धर्म उसके साथ है और वो क्षत्रिय धर्म छोड़कर संन्यास धर्म स्वीकार करना चाहता है एक जिज्ञासु में जितने के लिए वो अपने श्री कृष्ण का कहना है कि तो वे आदेश हो गया शोकावेश है ये तुम्हारा स्वभाव है अर्जुन को अपने स्वभाव का परिचय है

संजय जीवन पुरुष है अर्जुन में उनको कोई पुरुष नहीं दिखता है जीवन को किसी को कहते हैं जो सबको आहार करता जाए वो विरोध वो पर था क्या बात है वो ठीक है ठीक है जो होता है सच मर गए दर्शन हो गए चले गए था कई बार आगतम स्वागतम परिवार गच्छतम नजर हमें तो ठीक है जाए रोजने की कोई जरूरत नहीं है आगत गच्छ स्थिति

स्वागतम ग्रहण शरणागत प्रकृति की शरण में शरीर को डाल दिए तक तमाम रूप में डाल दिए शरीर को अविद्या में डाल दिए सब और माया में डाल दिए प्रकृति में डाल दिए ईश्वर में डाल दिए हमारा तो है नहीं चाहे जिसके घर जाए तो जीवन पुरुष जो है उसकी दृष्टि में कोई दोष है न कोई गुण है प्रती मात्र में न दोष होता है न गुण होता है प्रती में सारे गंगा जी दिखे सो वही और खरना को तो दिखे गुण दोष का छूट दिया इसलिए अर्जुन ने कृपा दी और कृपा जो कृपा का आदेश दिया क्योंकि आपको वस्तु में विष्णु पर श्री कृष्ण को अर्जुन में कस्मल दिखी तस्वा कस्मल विदम ये छुट्टी की मलिनता है ये मतलब नहीं है कि लड़ाई करना उचित है ये मतलब है कि बुद्धि शुद्ध होगी समझ तुम्हारी साफ है कि कसमलन मन तुम्हारी बुद्धि में मैं करता हूँ मैं लिखता हूँ मैं मारने वाला हूँ मरने वाला हूँ ये जो बुद्धि का दोष है वो तुम्हारे बना हुआ है तो जो चीज संजय को कृपा मालूम करती है श्री कृष्ण को कस्बल मालूम पड़ता है वही अर्जुन को कार्बन मालूम पड़ता है अर्जुन की दृष्टि में दोष बैठने और कृष्ण की दृष्टि में नापंथी है अर्जुन और संजय की दृष्टि में वही चीज जो है वो करना एक ही भाव है स्थिति एक ही है और पर सीधा अपने दोस्त को कबूल कर रहा है हमारे अंदर कृपणता है और गुरु जो है वो कह रहा था तुम्हारे गुरु में बदलता है और उसी को संजय देखता है तो नहीं ये तो प्रथा ठीक ही सही है देखते अब आ गया शोक को क्योंकि शोक संविघ्न मानता और सर्वसमूल सेवा तो कभी भी कोई भी अपने को बुद्धिमान भी है और शोक मोह से ग्रस्त भी हो तो वो बुद्धि क्या है जो शोक को हटा कर सके और वो को दूर न कर सके वो तो बुद्धि नहीं है मूर्खता है इतना विवेक किया इतना बैराग किया इतना सब लोगों का चिंतन किया और शोक वो भरे हुए हैं प्रज्ञा अपराध है दुख समझी जाती ये प्रज्ञा का अपराध है जिसको दुख कहते हैं दुख हमारे समझ का दोष है नहीं तो कौन से ठेकेदार हो तुम दुनिया के न बाल बना सकते अपना न पर्दे में रोक सकते न खूब चला सकते न उसको चलने से रोक सकते न पाचन कर सकते और न तो कम हो गया और तो बढ़ा सकते न बलपुत्र को रोक सकते स्वयं जागरूक के बाद तो पेट में आए नहीं माँ के तन दूध डाला है ये सब जो तो शरीर में ओढ़ है ये सब बनाया है तो दुनिया का ठेका लेकर बैठे है तो हम सबको सुधार के छोड़ेंगे क्योंकि सुधार का कार्य लोग होते हैं उनकी बुद्धि दूसरी होती है उनका फंड ही दूसरा है हम लोगों से एकदम अलग है जितने बौद्धी है शास्त्री में पूजित हुए आचार्य हुए इसका इसका खंड हम लोगों से बिल्कुल जुदा हमारे प्रतिशत पांच पत्नी के मैं तो बेहतर हाथ बिगाड़ी होनी होश हो तुम्हारे बारे में जो कुछ कहे कोई तो कह देगा और जो हो रहा है उसको हो रहेगा जबाब को पढ़ने की नहीं है अपनी समझ बिगाड़ने का यदि हम किसी को बिगड़ा हुआ तो हमारी समझ बिगड़ हैं हम अपने ऊपर ही कृपा करते हैं कार्पण्य दोषों अपने स्वभाव ये बात को मैं आपको सुना रहा हूँ ये कोई महाप्रदेश्वर की बात नहीं है ना आचार्य की बात है ये पीछा ईश्वर के बोलने की बात नहीं है वो तो बोलने लगे तो मना कर रहे नहीं भगवान आपको तो लोगों को अच्छे काम में लगाना है आप ऐसे व्रत बोलिए महाप्रदेश्वर बोलने लगे सीधा क्या बताओगे जब सबको चीज समझोगे तो सीधा क्या बताओगे पादरी ईसाई कैसे बना रहे मौलवी मुसलमान पुरोहित कर्मकांड कैसे करा रहे ये मंदिरों की बात है जिसमें न गजब तो है न जात है न सांस है न धर्म है दूध कहो और दूध कहो रजपूत कहो जो कहा कहो तो काबू की बेटी बेटा को ब्याह कांग्रेस जाति विवाद किसको तुलसी श्रद्धा और वगैरह है राम तो को रुपये शो करे तो वो मांग के कई वो किसी के सुन को नए वे को तो ले नए वे को दो तो आप तो पुरोहित है न गौरी है न काली है न ग्रंथी है न पंथी है अक्सर दोष थे सीधा कहता है बाद किसी भी दोष दूर कार्पण दोषों का कुछ स्वभाव है और श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि की धनता है और उत्साह करते और संजय कहता है कृपया विष्णु ये तो कृपा का आदेश हो गया है जब किशोर कुटुंब स्वरूप में जब कृपा है of the disregard. कृष्णता की प्रज्ञावाद की बाबी एक रोग होता है मनुष्य तो बाबी हो गए ये रोग इसे बाद का है बाबी जो है ये रोग है अद्वैत बाद अद्वैत बाद हाँ, अद्वैत बाद भी होगा कुछ डरने किसी बात नहीं है ये फिर कोई बात ये क्रोध है बात रूप बाबा के किसी ने पूछा कि बाबा आप अवेदना नहीं है द्वेषना भी नहीं है हम अद्वैत स्वामी जी तो मानता है समझता है किसी की समझ पर लगाम लगा उसको गाड़ तो अब अर्जुन की जो प्रपत्ति है शरणागति है उसमें दोष है दोष है जो कहता है शिष्य से हम साधु माओ है मैं तो अपना शिष्य हूँ तुम्हारी तो शरणागत हूँ प्रपद मैंने पाव पकड़ लिया इस प्रपद उसको कहते हैं कि जो पाव के ऊपर प्रपद है पंजा पाव का कहते उसको जो ऊपर से पकड़ ले वो हुआ प्रपद पकड़ लिया मैंने सुधारा पाव और जो नीचे रखे पलवे के नीचे पाव रख दे दौड़ गया मुझे वो तो सरदार पर एक बात तो कहता है कि तुम जो करोगे सो करेंगे तुम्हारे शरणागत और एक मिनट भी नहीं गुजरता है आगे बोलता है न युगते ही गोविंदम उठवा प्रभु मैं डर मैं तो तुम्हारी सब बात मानूंगा एक छोड़ एक बात छोड़ के मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा हैकत जब धर्म धर्म अपना है जब विचार अपना है जब विचार अपना है आचार अपना है तो शरणागति पाएगी तो नहीं जानते बस और तुम्हारी सब बात मानने को तो तैयार है कहो तो बीस बात कहो तो दस बात कहना तो तो अंतर करके मर जाए लेकिन एक बात नहीं मानती क्या न जो उससे गर्व है उसको भी बड़ी अच्छी समझदारी है तुम्हारी प्रहसन मनोभाव हस पर इतने बड़े बुद्धिमान होते हंसते नहीं हंसते हुए भीतर को दया और बाहर से श्री तो कृष्ण अभिनय कला में भी खड़े नहीं बजा बाजा बजाना आता था बाथरूम बजा सकते और स्वर ताल से बजाना चित्र चित्र नाचते हुए और सचित्र बांधव और गाते हुए गायक पचक गाय मानव और अभिनय करने में भी बड़े दिक्कत तो जैसे आजकल के साधक लोग जो है ना बैगी धोती पहनी और कुर्ता सफेद पहना और एक पाव की धोती नीचे और एक धोती को पहनता पहनता आता है समझ और बचते हैं और अपना निकाल के सूर्य साल कपड़ा तक ठीक पहनना नहीं आता है और कहते हैं हमको ब्रह्म ज्ञान तो श्री कृष्ण सब भीतर को करना भूले और बाहर से असली का अभिनय अरे अभिनेता भी होते न पुस्तक हो गया कलेजियम पास भगवान पार्क अपने भगोई को पुस्तक कह हैं कृष्ण का भगोई है सुभद्रा ब्याई अब इसको कह देना नपुंसक तो अरे बाबा नपुंसक तो पेट अभी मतलब हमारा बेटा है तेरा तो हो गया हृदय दौर्बल्यम व्यक्तोत्कृष्ट ये तेरे हृदय की क्षुत्र दुर्बलता है तो प्राण नहीं है क्षुद्र मन गाठ की गाढ़ भेजते हैं थोक माल भेजते हैं और जो एक एक करके दो दो गए फाड़ को भेजते हैं उसका खुदरा ये खुदरा शब्द कहा से आया क्षुद्र से आया ये तेरा तेल जो है ना चूप चूप हो गया है और ये बाबा है ये दादा है ये पाना है ये बाप है ये दादा है चूप चूप हो गया है तो बुखार से पीड़ित हो गया है दीपकुष्ट चंद्र जी रोग हर्ष जाए थे रोग के खड़े हो रहे शरीर में कंपन हो रहा है गांधी और प्रश्न से हस्ता बच्चे परिदृश्य तुझे बुखार आ गया है खुद अपुस्तक हो गया है तेरी बुद्धि सिखाने नहीं है अब महाराज आजकल किसी को ऐसा कह दे तुरंत कहेगा गुरु जी नमस्कार है श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि पंडित की संख्या ये पंडित माने सदस्य विवेचनी बुद्धि जिसको प्राप्त है गतासु की जिनको पटना में मिल गई पटना पटना में और बुद्धि भी कहेगी जो तिल और चारों को बिल्कुल अलग अलग करते हैं सब आत्मा और आत्मा का विवेक तो पंडित जो है बुद्धिमान पुरुष की पहचान है कि जो मर गया उसके लिए शोक का करता और फिर मर गया और जो जिंदा है तो जिंदा ही है जब तक कोई जिंदा है और उसको देखने के लिए जा वो समझेगा कि अपने लोग मरने वाला और उसके लिए देखने उसके पास जाने की कोई जरूरत नहीं उसको ये बताने के लिए कि हमको मरने वाले लोग तो तो अच्छा मर गया बोले जब वो मर गया तो जाए किसके पास जब मर गया तो किसके पास तो दोनों शोक करने कि दोनों होते जब आंसू अगले आंसू नर्म शोक सत्य का तो पंडित की सरकार ने शोक किस कारण से ज्यादा लोग मर गए तो मर गए और जो जितना है उससे हमारा कोई मतलब है कि हमारे हृदय में शोक हो हम अपने देश को साफ साफ शोक का जुकाव एक नफरी है एक तरह का संगम देखिए देखा जाता है और पागल की तरह चिल्लाने लगे दिल घबरा जाए तो हमारा घर तो करने वाले से तो मतलब न जीने वाले से मतलब तो ये है सबसे बड़ा स्वार्थ यही है प्रत्येक व्यक्ति का वो अपने हृदय को सुरक्षित करे रक्षक रक्षक कोष आजाद कोषक हृदय जिसमें सुरक्षित है सर्वम सुरक्षित बचा लो बचा लो अपने हजारों तीर्थ जाने को तीर्थ यदि ये बचा रहेगा तो सब बच जाएगा और यदि अपना दिल ही बिगड़ गया यदि इसी के टुकड़े हजार को फिर दिल के टुकड़े हजार कोई आग गिरा कोई वहां गिरा जब इसी को देखते फिरोगे तो रोने के सिवाय और कुछ जीवन में रहेगा ही कितने आते दारू शोषण की संहिता शोक जो है वो मूर्ख की संहिता है तो आपको गीता सुना शोक स्थान सहस्त्रा भय स्थान शतान जीवते जीवते मूढ़ आविशम चिर पंडितम ये भारत गायत्री भारत महाभारत की गायत्री है चार श्लोक इन चार श्लोकों में से एक दिन भर में हजार बार श्लोक आया और हजार बार भय आया तो ये किसको आता है दुख को आता है सब जाति होने से की आठ वर्ष बाद प्रजापति पंडितानी जो हुई जब मैं पढ़ता था तो बहुत प्रेरित करते थे खिलाते थे खिलाते अपना अमेरिका में गया तो बिना तो किसी उम्र में बीस बरस की उम्र में कोई होता है ऐसा जैसे किसी का पचास वर्ष का बेटा बने ना तो, वो अड़तालीस वर्ष का उनचास वर्ष का बोलते हैं तो हम इकतीस वर्ष को बंद कर जाते हुए और तो सारे इक्कीस वर्ष का विद्यार्थी होता है खूब रोज अच्छा उसके बाद बताने लगे कि बेटी का ब्याह कैसे हुआ तो कहाँ से रुपया आ गया और परिवार ने क्या क्या मदद की और सतस के बुद्धि का वर्णन और जीवन का वर्णन करने लगे फिर बदल गया तो पंडित जी कैसे बुढ़े हो गए और उनको सूझता नहीं है फिर बोलने लगे अपने कोई आधा घंटा बैठा उसको दस बार बोल दस बार आप अपने मन को कुछ नया मन समझ ये मन का अभिनय ये पार्क है ये सताई नहीं है ये पद के रोगे मेरे करते हुए ये तो लोग जो इसकी बात को सच्चा समझ लेते वो तो अभिनय नाटक है अच्छा समझ सच्चा समझ लेना भी इसकी कला है पद की कला है कि वो अपने कला कौशल से हम लोगों को बस कर रहे हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जाकर देखकर और उसमें अंग्रेज बना हुआ कुशाक था उसने एक स्त्री दिलही दिल बनाने वाली जो स्त्री थी वो बना हुआ कोई दूसरा पात्र था अब जब अंग्रेज ने छेड़ा अंग्रेज बने हुए पात्र ने जब उस स्त्री को छेड़ा और वो चिल्लाई तो ईश्वर चंद्र विद्या सागर को भूल गया कि नाटक है निकाल के जूता और चढ़ गए थे पर और वो पूछना शुरू कर दिया उसको तुरंत पर्दा कर बोले कि भाई आज हमारा नाटक सफल हो गया ये लोग कभी लोग जो सुनाते हैं ना अपनी कविता तो बीच बीच में रोने से लग जाते थे बड़े करोड़ स्वर्ण लोग और कभी फंसाते हैं तो हंसी के स्वर्ण और उनकी खुशी रहती है वो अभिजय है ना खुशी किस बात की रहती है कि हमारी कविता बहुत बढ़िया है इसका हर्ष होता है जब महात्मा गांधी का शरीर चुना हुआ शाम को पांच बजे के लगभग तो मालूम हुआ कि गांधी जी का शरीर पूरा हो गया दूसरे दिन जो सवेरे पत्र छप से आया एक पर्दे की कविता पूरी और बड़ी तरह कविता पूरी पता नहीं गांधी जी के मर्म से तो पहले ही लिख के रखा हो ये तीसरे रात में कविता लिखी जाती है तो महाराज उसको पढ़ के तो होगा तो मैंने कहा कि देखो भाई जिसने ये कविता लिखी है वो रोया उसको अपनी कविता की अच्छाई देख करके उसको बहुत बहुत खुशी हुई है कि जब इतनी बढ़िया कविता देखते हुए वो खुश हुआ है तो आप हम लोग क्यों कहो हमें तो विद्यार्थी जी का नाम देगा तो हम जानते थे हमें जो चिंता थी हमें जो चिंता थी तो हम जानते थे कोई समय पर रोए आते थे तो बाबा को शरीर पूरा होने का जब पता लगे आप से आंसू निकले और एक जानते जी के लिए ये तो अभुदय है सारा करता है और हमारा मन जो है वो जब इस भाव को धारण करता है क्रोध का अभिजय करता है शोक का अभिजय करता है काम का अभिजय करता है पूर्व देश में बदल जाता है दूसरा पाठ लेके आ जाता है तो ये तो मन की जो कला है वो देखने लायक है उसमें तादाद की करने लायक नहीं है तो दिवसे दिवसे न भाव शक्ति न पंडिता बुद्धिमान आदमी तमाशा देखता है उससे तादाद प्रवेश करता है अब देखो आगे क्या बात है कि बुद्धिमान आदमी की पहचान क्या है वो बुद्धि होना चाहिए जिसकी बुद्धि काबू में हो यम हाँ, जो अपनी बुद्धि को अपनी प्रेरणा के अनुसार चलाता है और केशिपम पतति प्रेषिपम सदा ये तो कि मन को कौन अपने अभिष्ट स्थान पर भेजता है तो ये जो बुद्धि है उसको हम कहा लगा कर रखते हैं देखो तो आप छोटे हो कि बड़े है आपकी बुद्धि छोटी चीज को पकड़े हुए है कि बड़ी बुद्धि बड़ी छोटी नहीं होती तो ज्यादा तक उसका जो विषय है पांच पैसे को पकड़ के रो रही है और एक प्रांत को पकड़ के रो रही है एक जिला को पकड़ के रो रही है एक मजहब को पकड़ के रो रही है इस परिवार को पकड़ के रो रहे हैं इस पार्टी को पकड़ के रो रहे हैं ये जो कुछ चीजें हैं जो रोज बस्ती बिगड़ती है साफ को हुए मिनिस्टर और दूसरे दिन एक मुसलमान की शादी थी उस साफ को निकाल हुआ हुआ अब वो आधी रात होते होते दोनों में झगड़ा हो गया तुरंत और भी साहब को बुला के और तलाक कर दिया हो गया तलाक अब राजकर दोनों ने समझाया बुझाया दोनों इकट्ठे हुए चार बैठते बैठते फिर दोनों में प्रेम हो गया फिर से निकाल लो अब एक ही रात पड़े एक ही रात में महाराज चार चार बार गया और देखा देखा तो ये हमारे हमारी स्थिति ये होती जा रही है तो पुरुष कौन है स्पर्शास्त्र स्पर्शास्थित तेजो शीतो सुख दुखता आगमा पाणी नित्या अस्थितिक्ष स्वभाव जब निर्वयते पुरुषम पुरुषत्व सर्वो वीरम सुप्रदत्वाय कल्पते दशा से कोई ऐसी बात नहीं चल है गाली दिया करते करेंगे तो आदमी बड़े जोर से सुना और सुप्त तुरंत जवाब दे दिया दौड़ के अपने घर गया और अपने घरवाली से पूछा घर में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई कोई आदमी आया था हमारी बहन तुम्हारा अपमान करके गया है वो बोली कि नहीं आप तो खुद ही आया था तो वो लौट गया तो भाई हमारे घर में तो हमारे बहन जाओगे सब ठीक है तुम क्या बोल रहे थे ऐसा झूठ बोलने का अभ्यास कर दिया है इस तरह होता है कोई किसी के मुंह से कोई शब्द उड़ता है और वो बाहर चला जाता है तो तुम उसको रिसीव क्यों करते हो अपने कार्य क्यों करते क्यों परिवर्तन करते आप कहेंगे उसकी जबान तो पकड़ने वाले कौन होगा यदि तुम ठीक हो जब विलंबते पुरुषों पुरुष तो देखो अगर तुम सही हो साधु और तुमको कोई चोट कहता है तुमने चोर कहने को जो सह दिया ये तुम्हारी तपस्या हो गई और यदि तुम चोर हो और कोई चोर कहता है तो तुम्हारी चोर पट्टी खुल गई अब आगे चोरी बंद है दोनों में से एक बात है अगर तुम साधु हो साहूकार हो चोरी तुमने नहीं की है और तुमको कोई चोर कहता है तो चढ़ने की कोई बात ही नहीं हुई वो तो सह लोगे तो तुम्हारी समस्या हो जाएगी और जिसने तुमको चोट कहा उसको पाप लगेगा उसका करण अशुभ होगा पाप लगने वाले करण अशुभ पाप लगने वाले कोई दूध प्रेत लगना नहीं होता है जब जब विषय पुरुषम सब सब दुख सुखम वीरम शोध करता है कल कभी बस यही अपने करें जीवन का अमृत रस यही है वो मरने के बाद नहीं मिलता है जिंदा जिंदा अवस्था में ही अमृत का भाव होता है तुम स्वयं अमृत हो तुम स्वयं अमृत आप अमृत आप अमृत घट आप जीवन घट आप है आप बुढ़ावे आप है जीवन हारे तो ईश्वर की कृपा से शास्त्र शिक्षक भारत जब जब ग्रंथ थे तो उसमें कुछ अब एक बात यह आई कि करने के लिए भी तो कोई आसक्त नहीं चाहिए वो क्रोध की नजर है जिससे हम सहन करें तो क्या नजर है दुख है वो बराबर है और जो बरा है वो फिर तो जो वस्तु बिल्कुल नहीं है वो हो नहीं हो नहीं सकती पहले मतलब तो होगी नहीं तो बनेगी भी नहीं शास्त्र को भी देते जाओ प्रज्ञा पुत्र का जब जन्म हुआ जब मृत्यु हुई अच्छी तो भाई प्रज्ञा पुत्र तो है ही नहीं अच्छा तो देखो आत्मा दाभाव में देते पता जो सब वस्तु है आत्मा है उसका अभाव है मृत्यु है जब मृत्यु नहीं होती तो जन्म भी नहीं हुआ तो जब तो आत्मा जैसे ठोस पदार्थ का जन्म वर्ण है ये बाबू लोग कहते हैं कि बहुत ठोस है और आत्मा हम लोग बोलते हैं आत्मा ठोस है खड़ा हुआ ठोस जिसमें कभी चंचुक प्रवेश की जगह नहीं है ऐसा है आत्मा बहुत ठोस नहीं चक्कर लगाने पर ये बात मालूम हो जाएगी तो जो लोग हमेशा दादा पानी में ही अपनी नजर रखते हैं उसको प्रभावित नहीं करेंगे चीज की पकड़ी है वो खेल सके थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ऐसा सोचो कि आज तक कभी किसी को मृत्यु का अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ अनुभव के क्षेत्र में मृत्यु है कि नहीं बिल्कुल बहिष्कार कर मृत्यु का अनुभव हो ही नहीं सकता न हमको हो सकता न चीटी को हो सकता और न ब्रह्मा विष्णु महेश को हो सकता क्यों जिसको मृत्यु का अनुभव होगा वही तो जिंदा है जीवन तो वो है तो जीवन कभी बढ़ता नहीं अरे कभी जो आया था सुना रहा था वो अधिकार वाला था उनको कविता तैयार नहीं है सपने मिट जाते हैं जीवन नहीं मिलता है ये बहुत आती है आती है आती है रोज रोज आती है हजारों बार आती है उसको देखने का बजा ले जाते हैं ये बहुरूपिया तारीफ तरह तरह का रूप धारण करके आती है लेकिन हमको छू तो दे सकते हैं ना हम आज तक कभी मर गए होते तो आज होते कैसे तो आज तक तो कभी मरे नहीं तो क्या है और जब आज तक कभी नहीं मरे तो आगे बढ़ जाएंगे ये तो कल्पना ही बिल्कुल जरूरी है इसलिए जीवन और मृत्यु का जो रहस्य है वो हमको मानना है उभयोग कृष्णोत्तर पर्वो तत्वदर्शी भी हाँ, तत्वदर्शी भी अजयो हो उभयोर भी अंत रहस्य दृष्टा जो तत्वदर्शी है तत्वदर्शी माने तब रूप की कल्पना से मुक्त जो तत्व है उसको तत्व बोलते हो तत्व माने अनारोपिका कारक जिसमें कोई आकृति और कोई नाम कल्पित नहीं हुआ है उसको बोलते हैं तत्व हाँ, अपना नाम रूप बनने से पहले अपने आत्मा का जो स्वरूप है और नाम रूप की कल्पना होने से कल्पना के अंत में जो स्वरूप है कल्पना काल में भी वही स्वरूप है उसमें कोई पार्टी पार्टी है खड़ा साधा कदा किसी का इससे कोई मतलब नहीं अध्यास तबे सुबपुरा शशिकार वास्तव विशेषण कुभ्रेजरस्यति चिरम समवस्थिति वा कुभावरस्य दरिकोषा चाहे शरीर आज टूट जाए टूट जाए चाहे चंद्रमा सूर्य के साथ साथ रहे इससे क्या फर्क पड़ता है क्या पारस्य फर्क क्या फर्क पड़ता है चाहे घड़ा आज फूट जाए चिरकाल तक रहे उससे घटा काश पर तो क्या प्रभाव पड़ता है तो जन्म और मृत्यु का जो रहस्य है देखो जिसको पानी की है उसको घड़ा चाहिए लेकिन जिसको किस हाथों से घड़ा बना है जिसकी परीक्षा करनी है उसको घड़ा के टूटने फूटने से क्या रखना मतलब है एक सदस्य से उन्हें वैज्ञानिक खोज होती है तो ये जो पोटास होती है पोटासियम जिसको बोलते हैं यही मुस्लाम है और उसमें स्वाद कैसा होता है उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की मैं तो करता होगा सामने आगे रखा हाथ में कलम लिया और प्रकाश को जीत कर डाला परंतु दिखने के पहले मर गए दूसरे ने कहा अच्छा उनसे नहीं मत जो सत्य का जिज्ञासु है जो तत्व का जिज्ञासु है उसको शरीर के मरने के लिए क्या परवाह है मृत्यु तो एक अवस्था है जैसे सुसुक्ति हो जाती है और चली जाती है तो उसको ये काम बना हुआ है कि इस सुक्ति के बाद हम फिर जगेंगे और हमारी दुनिया जो क्यों मिल सोने से डर नहीं लगता ऐसे बड़ा एक आदमी था वो दिन भर बुखार का काम करता था खड़ा बजाता था और, और दूसरे दिन के खड़े हैं उनको पकाता था और फिर को लेकर बाजार में जाता था और दो आदमी चार आदमी दो पैसे में बेच के आता था बहू के बच्चे बहू के बच्चे से खिलाता पिलाता था बड़े कष्ट से अपना जीवन थी और साउथ कुत्ता जो जीत खा पी के जब सोता तो जीत आते ही वो महाराजा बन जाता सप्राह और उसके पास राज है और रानी है और राजकुमार है और खुदा है सेनापति है धर्माध्यक्ष है अब ये सपना उसको रोज आता तो उसको जागृत के जीवन से विड़ा हो गए हमारा तो सपने ही बना रहे रोज रोज आने से सपना प्यारा हो गया हो हाँ। तो ये जो हम लोग को प्यार करते हैं वो इसलिए कि रोज नींद के बाद जागरण आ जाता है और और बहुत तो वो नींद है जो एक बार आती है फिर वही दुनिया हमको मिलेगी हमारी बधाई हुई इसकी संभावना नहीं रहती है असल में निद्रा में जितना सुख है मधुर निद्रा मृत्यु वाले चिर निद्रा मधुर निद्रा this fifth फिर क्या उसको जीने से पर्दा अच्छा लगेगा तो उसको जिसके जिसको पर्दे के बाद का रहस्य मालूम हो गया ये दाम रूप का जंजाल मुझे पर क्या रहता है उसके लिए तो बहुत तो अदृत हो गई उसकी मृत्यु भी अमृत हो गई असल में अर्जुन की बुद्धि में जो दोष है वाक्य व्यापक सत्व कारक वचन जो होता है वो समझाने के लिए होता है जहन कराने के लिए होता है वो कारक नहीं होता है समझा देने के लिए करना चाहिए हाथ से तुम करो और समझा दो के लिए बोलना चाहिए तो बोलो और ये कहो कि हम तुम्हारी चीज पकड़ के बुलावे कि हाथ पकड़ के करावे तो यहाँ एक बार की बात है तो गलती और वृंदावन की एक सज्जन ने रात मंडली बनाई तो लड़के होते हैं छोटे छोटे बेचारे बच्चे होते हैं बारह से पंद्रह तक मुंह आते आते तो उतारी देते हैं तो वो लड़के सब जब सो गए और मर्दनी के मालिक जाग के पहरा रहे कोई आपस में कोई समुचित कर्म दस रहे तो जागते भी रहे तब भी लड़के ऐसी युक्ति से और है कि एक उठ के दूसरे के खाट पर चला जाए दूसरा तीसरे के खाट पर चला जाए गलती बात आपको सुनाते हैं अंत में भी उठ गए और उन्होंने कहा कि लोगों की लंबूटी पकड़ के हम ब्रह्मचारी नहीं बना सकते हैं हम समझा सकते हैं यदि मनुष्य की खुद अपनी समझ में खुद की समझ में अगर बात नहीं आ रही तो हम लंगोटी पकड़ पकड़ के ब्रह्मचारी नहीं बना सकते तो वाक्य व्यापकम जसु कारकम जो भूली जाती है बात समझाने के लिए भूली जाती है वो हाथ पकड़ के करवाने के लिए नहीं बोली जाती है तो अर्जुन की बुद्धि में जो दोष है आ, क्या दोष है कि आत्मा होता है और ये हक है वो क्या है कौ सौ में विचारी तो सारे भक्ति दोनों तो तो वार्ता और वर्ग दोनों से मुक्त जो बुद्धि है वो तो सच्ची बुद्धि है और जो वर्णा मारना में लगी हुई बुद्धि है वो सच्ची बुद्धि नहीं है